पहले प्रश्न भगवान यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते कांश काम स्माधत्मज्ञम हचर्य वेद भूति कामा जिसका अंतकरण शुद्ध है ऐसा आत्मवेदता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन कामनाओं की कामना करता है वह उस उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे आत्मवेदता की अर्चना करनी चाहिए भगवान मुंडकोपनिषद के सूत्र का अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें सचनंद इसके पहले कि हम सूत्र के विश्लेषण में उतरे कुछ आधारभूत बातें समझ लेनी उपयोगी पहली जब तक कामना है तब तक आत्मा शुद्ध नहीं आत्मा की अशुद्धि का और अर्थ ही क्या होता है कामना की कीचड़ फिर कामना धन की हो पद की हो प्रतिष्ठा की हो मोक्ष की हो निर्वाण की हो ब्रह्म ज्ञान की हो इससे भेद नहीं पड़ता कीचड़ कीचड़ है जब तक कामना है तब तक कैसी शुद्धि जहां कामना है वही संसार है संसार कामना का विस्तार है कामना शून्य हुई संसार समाप्त हुआ कामना संसार है तो कामना का शून्य हो जाना संन्यास है और जहां कामना के बीज तक दग्ध हो गए हों वही सत्व शुद्धि है इसलिए यह सूत्र बुनियादी रूप से गलत है दूसरी बात जब आत्मा शुद्ध हो गई तो फिर मन कहा यह तो बात बड़ी विक्षिप्तता की हो गई यह तो यू हुआ कि एक तरफ तो कहा कि झील शांत है और दूसरी तरफ झील में उठते तूफानों झंझावातों और लहरों की चर्चा छेड़ती झील शांत है मौन है दर्पण की तरह न कोई लहरें हैं न कोई तरंग तो फिर कैसा तूफान कैसी आंधी कैसे झंझावात जहां आत्मा शुद्ध है वहां मन असंभव है मन का अर्थ क्या होता है आत्मा का अथिर होना आत्मा का डमाडोल होना आत्मा का कंपित होना आत्मा का लहरों से भरा होना विचार की लहरें स्मृतियों की लहरें कल्पना की लहरें जहां लहरों पर लहरें आ रही उसका नाम मन है आत्मा का नाम ही मन है आत्मा जब रुग्ण है तो उसका नाम मन है और जहां रोग गया वहां मन गया आत्मा जब स्वस्थ है तब सत्व शुद्धि होती इसलिए एक तरफ तो कहना कि जिसकी आत्मा परम शुद्धि को उपलब्ध हो गई है वह मन से जो भी चाहेगा उसे पालेगा निपट मूढ़तापूर्ण यह सूत्र किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने लिखा होगा उपनिषद में हो इससे कुछ भेद नहीं पड़ता मैं शास्त्रों को देखकर नहीं चलता हूं मेरी कसौटी पर उतरनी चाहिए बात मेरी कसौटी मेरे अनुभव पर निर्भर है किसी शास्त्र पर नहीं तो मंडकोपनिषद हो या कोई और उपनिषद हो वेद हो कि कुरान हो कि बाइबल हो इन बड़े बड़े नामों से मुझे रक्ति भर भी अंतर नहीं पड़ता मैं वही कहूंगा जो मेरी अंत अनुभूति की कसौटी पर सही उतरता है लेकिन सदियों से हमारी आदत गलत हो गई है मुंडकोपनिषद में है इसलिए ठीक होना ही चाहिए उपनिषद में कहीं गलत बात हो सकती है गलत बात कहीं भी हो सकती है क्योंकि सब बातें आदमी लिखते हैं और उपनिषद या वेद तो बहुत लोगों ने लिखे एक एक उपनिषद में बहुत से व्यक्तियों के वक्तव्य हैं फिर अगर एक उपनिषद में एक ही व्यक्ति के वक्तव्य हो तो भी ध्यान रखना यह भी हो सकता है उसके कुछ सूत्र उस समय के हों जब उसने जाना न था और कुछ सूत्र उस समय के हों जब उसने जाना और स्वयं उसने लिखा ना हो किसी शिष्य ने जो जो सुना है वह संग्रहित कर लिया हो लेकिन मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता लोगों को तकलीफ होती है कल ही किसी व्यक्ति ने पूछा है कि कभी आप किसी शास्त्र के पक्ष में बोल देते हैं और कभी उसी शास्त्र के विपक्ष में बोल देते मैं भी क्या करूं तुम्हारे शास्त्रों का कसूर है तुम्हारे शास्त्र विरोधाभासों से भरे उनके विरोधाभासों पर लीपापोती करने के लिए मैंने कुछ ठेका नहीं लिया मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है मैं तो जैसा मुझे दिखाई पड़ता है वही कहूंगा तुम्हारे शास्त्र का मेल पड़ जाए ये तुम्हारे शास्त्र का सौभाग्य मेल ना पड़े ये तुम्हारे शास्त्र का दुर्भाग्य इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं यह सूत्र तो बिल्कुल ही विक्षिप्त है गलत ही नहीं गलत से भी गया भी यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामते यांश कामान जिसका अंतकरण शुद्ध है ऐसा आत्मवेदता मन से जिस जिस लोक की कामना करता है और जिन जिन कामनाओं की कामना करता है वह उस उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है जिसने स्वयं को जाना उसे क्या कुछ पाने को शेष रह जाता है जिसने स्वयं को पा लिया अब क्या इसके ऊपर भी कोई संपदा है कोई साम्राज्य क्या इसके ऊपर भी कोई और गति है अब क्या चाहेगा वह अब तो जो चाहेगा वही पतन होगा जैसे कोई गौरी शंकर पर विराजमान हो गया अब और कहा जाएगा अब तो हर गति पतन होगी अब तो हर कदम नीचे की तरफ होगा अब तो हर यात्रा ढलान की होगी आत्मवेदता तो वह है जिसने चेतना के परम शिखर को उपलब्ध कर लिया है और ख्याल रखना जो मूल शब्द है विशुद्ध सत्वा वह बड़ा बहुमूल्य है उसका इतना ही अर्थ नहीं होता कि जिसका अंतकरण शुद्ध है अंतकरण तो दो कौड़ी की चीज है अंतकरण को बहुत कीमत मत देना अंतकरण आत्मा नहीं है इस भेद को खूब ख्याल रखना हालांकि समाज की सारी शिक्षा इस भेद को मिटाने की चेष्टा करती अंतकरण यानी आत्मा ऐसा शब्दकोश कहेंगे भाषाकार कहेंगे व्याख्याता कहेंगे पंडित पुरोहित कहेंगे लेकिन ये बात बुनियादी रूप से झूठ है अंतकरण सच पूछो तो अंतकरण भी नहीं होता आत्मा होनी तो बहुत दूर क्योंकि अंतकरण बाहर से पैदा किया जाता है भीतर तो होते ही नहीं अंतकरण तो समाज पैदा करता है ये तो समाज की व्यवस्था है व्यक्ति को गुलाम बनाए रखने के लिए जैसे समाज बाहर इंतजाम करता है पुलिस वाले का और मजिस्ट्रेट का अदालत का कानून का विधान का ताकि तुम्हें बाहर से बांध ले तुम बाहर के डर से कुछ भूल चूक न कर सको लेकिन आदमी होशियार है तुम लाख कानून बनाओ तुम लाख व्यवस्था बनाओ हर व्यवस्था में से छिद्र निकाल लेगा आखिर आदमी ही तो बनाएगा ना कानून तो आदमी कानून से तरकीबें भी निकाल लेगा आखिर सारे वकील करते ही क्या है उनका काम ही क्या है उनका काम ही यही कि कानून से कानून के विपरीत जाने की व्यवस्था खोजना है इसलिए तुम कोई भी मुकदमा लेके वकील के पास जाओ वो कहेगा बेफिक्र रहो जीत निश्चित है खर्च तो बहुत होगा मगर जीत निश्चित है मुल्ला नसरुद्दीन वकील के पास गया था सारा मामला अपना सुनाया वकील ने कहा बिल्कुल मत घबराओ मामला तो कठिन है पैसा तो खर्च होगा मगर जीत निश्चित है मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि आपको पक्का भरोसा है जीत निश्चित उस वकील ने कहा छाती पे हाथ रख के कहता हूं परमात्मा को गवाह रख के कहता हूं कि जीत निश्चित है जीवन भर हो गया वकालत करते इतना अनुभव नहीं मुझे ऐसे कई मुकदमे जिता चुका हूं मुल्ला तो उठ खड़ा हुआ चलने लगा तो वकील ने कहा कहा जा रहे हो मुल्ला ने कहा तो फिर बात खत्म हो गई उसने कहा तो मुकदमा नहीं लड़ना है मुल्ला ने कहा मैंने तुम्हें अपने विरोधी के तरफ का मामला बताया था तुम कह रहे कि जीत बिल्कुल निश्चित तो अब मामला क्या करना है तो झगड़े में सार ही क्या है तो हम आपस में समझौता किए लेते जब जीत निश्चित है उसकी तब वकील को पता चला कि यह पहला मौका है जिसमें वो धोखा खा गया ये आदमी अपने विरोधी का मामला बता रहा था उसको वकील की सारी व्यवस्था यही है कि कानून से तरकीब में खोज जिन लोगों ने कानून बनाया है वे वही लोग हैं जिनके हाथ में लाठी है जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस जिनके न्यस्त स्वार्थ है वे कानून बनाते लेकिन उन्हें ये बात जाहिर है कि बाहर के कानून आदमी की पूरी आत्मा पर जंजीरें नहीं डाल सकते हो सकता है उसके हाथों में जंजीरें पड़ जाएं और पैरों में बेड़ियां पड़ जाएं मगर आदमी भीतर तो स्वतंत्र रहेगा भीतर भी जंजीरें पहनानी जरूरी तभी आदमी पूरा गुलाम होगा और समाज के न्यस्त स्वार्थ चाहते हैं कि आदमी पूरा गुलाम हो शत प्रतिशत गुलाम हो ताकि बगावत की कोई संभावना ही न रह जाए ताकि वो इनकार न करे ताकि वो कभी आज्ञा का उल्लंघन न करे इस व्यवस्था को जुटाने के लिए उन्होंने अंतकरण पैदा किया है अंतकरण सामाजिक आविष्कार है बच्चे के पास कोई अंतकरण नहीं होता अंतकरण हम धीरे धीरे उसमें पैदा करते और हर एक धर्म का हर एक जाति का हर एक देश का अलग अलग अंतकरण होता है जैसे एक जैन को अगर तुम मांस परोस दो तो उसका अंतकरण क्या कहेगा असंभव है कि वो मांस को आहार कर सके क्योंकि बचपन से ही मांसाहार गलत है महापाप है इस भांति की धारणा उसके भीतर डाली गई है संस्कारित की गई है ये संस्कार है ये गहरे पहुंचा दिया गया है इसकी इतनी पुनरुक्ति की गई है पुनरुक्ति ही व्यवस्था है अंतकरण को पैदा करने की बचपन से ही दोहराया गया है हजार तरह से दोहराया गया है और डर भी दिखाए गए अगर मांसाहार किया तो नर्क में सड़ोगे अगर मांसाहार न किया तो स्वर्ग के आनंद भोगोगे कैसे कैसे भोग स्वर्ग के कैसे कैसे प्रलोभन और कैसे कैसे भय नरक के भय और लोभ दोनों के बीच बच्चे को कसा गया है और रोज दोहराया गया है कहानियां दोहराई गई पुराण दोहराए गए मंदिरों में ले जाया गया है पंडित पुजारियों साधु संतों के पास बिठाया गया है बहुत बार दोहराने से संस्कारित हो गया है आज सामने उसके मांस रख दो बस मुश्किल में पड़ जाएगा वमन हो जाएगा मांसाहार करना तो असंभव है उसका सारा अंतकरण कहेगा पाप है महापाप है वो देख भी ना सकेगा छू भी ना सकेगा लेकिन सारी दुनिया तो मांसाहारी है निन्यानबे प्रतिशत लोग तो दुनिया के मांसाहारी और ऐसा ही नहीं कि भारत के बाहरी मांसाहारी भारत में भी अधिकतम लोग तो मांसाहारी हैं थोड़े से जैनों को छोड़ दो थोड़े से ब्राह्मणों को छोड़ दो सारे ब्राह्मणों को भी मत छोड़ देना क्योंकि कश्मीरी ब्राह्मण तो मांसाहार करता है इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को मांसाहार करने में कोई अंतकरण की बाधा नहीं पड़ती थी कश्मीरी ब्राह्मण बंगाली ब्राह्मण तो मछली खाता है तो रामकृष्ण को मछली खाने में कोई बाधा नहीं थी कोई अंतकरण बाधा नहीं डालता था तो सारे ब्राह्मण भी मत गिन लेना गैर मांसाहारियों में और जैनियों की संख्या कितनी है ये कोई पैंतीस लाख और थोड़े से ब्राह्मण उत्तर भारत के इनको छोड़कर सारी दुनिया मांसाहारी है न तो किसी के अंतकरण में कोई अड़चन आती न किसी के भीतर कोई सवाल उठता अगर ये बात सच में ही अंतकरण की होती तो हरेक के भीतर आवाज आनी चाहिए थी अगर ये परमात्मा की आवाज होती आत्मा की वाणी होती तो प्रत्येक के भीतर उठनी चाहिए थी और मजा तो यूं है कि ऐसी ऐसी बातों में भी अंतकरण उठाएगा जिनके संबंध तुमने कभी कल्पना भी ना की हो सोचा भी ना हो मेरे परिवार में एक बार एक क्वेकर ईसाई फकीर मेहमान हुआ तो मैंने उससे पूछा सुबह की चाय लोगे काफी लोगे दूध लोगे क्या लोगे उसने कहा दूध आप और दूध पीते उसने मुझसे ऐसे पूछा जैसे कि कोई महापाप करने के लिए मैंने उसे निमंत्रण दिया तब तक मुझे पता ही न था कि क्वेकर दूध को पीना पाप समझते उनके अंत्यकरण के खिलाफ यहां तो दूध सबसे सात्विक आहार है इस देश में ऋषि मुनियों का आहार यहां तो जो आदमी दूध ही दूध पीता है उसको तो लोग महात्मा कहते हैं मैं रायपुर में कोई छह आठ महीने रहा तो वहां तो एक पूरा का पूरा आश्रम दूधाधारी आश्रम वहां सिर्फ दूध या दूध ही पीने वाले साधु संत और उनकी महत्ता यही कि वो सिर्फ दूध पीते तो मैंने कहा कि दूध पीने में कोई अड़चन आपको तकलीफ उनका तकलीफ की बात कर रहे हो अरे दूध और खून में भेद ही क्या जैसे खून शरीर से आता है वैसे ही दूध भी शरीर से ही आता है इसलिए तो दूध पीने से खून बढ़ता है चेहरे पर सुर्खी आ जाती है दूध रक्त जैसा ही है बात में तो बल है शरीर से ही निकलता है शरीर का ही अंग है तो शरीर के अंग को चाहे वो मांस हो चाहे दूध हो चाहे रक्त हो एक ही कोटि में गिना जाएगा उन्होंने कहा दूध तो बहुत असात्विक आहार है इस देश में लोग दूध को सात्विक आहार मानते रहे उनका अंतकरण कहता बिल्कुल सात्विक आहार है क्वेकर ईसाई मानते हैं बिल्कुल असात्विक आहार है उनका अंतकरण उन्हें दूध नहीं पीने देता दूध देख के ही उनको बेचैनी हो जाएगी कौन सी चीज अंतकरण है अगर अंतकरण जैसी कोई बात होती तो सभी के भीतर समान होनी चाहिए थी लेकिन सभी के भीतर समान नहीं औरों की तो बात छोड़ दो दिगंबर और श्वेतांबर जैन एक ही संप्रदाय कोई खास भेद नहीं एक ही मत एक ही जीवन दर्शन कुछ छोटी सी टुच्ची बातों के फासले मगर उनमें भी फर्क है जब पर्यूषण के दिन आते हैं जैनों के धार्मिक उत्सव के दिन तो दिगंबर जैन हरी सब्जियां नहीं खाते मैं तो दिगंबर परिवार में पैदा हुआ तो बचपन से मैंने ये जाना कि हरी सब्जी पर्यूषण के समय में खाना पाप है कोई बीस वर्ष की उम्र में पहली दफा एक श्वेतांबर जैन परिवार में मैं ठहरा तो मैं चकित हुआ ये देखकर कि पर्यूषण के दिन है लेकिन केले मजे से खाए जा रहे हैं तो मैंने पूछा ये मामला क्या है हरी चीज खाने का तो विरोध है उन्होंने कहा ये हरा है ही कहा केला तो पीला होता है हरे का मतलब देखा जैन शास्त्र कहते हैं हरी चीज हरी चीज से उनका मतलब है ताजी अभी तोड़ी गई मगर यहाँ हरे का मतलब ही और केला तो पीला कच्चा केला मत खाओ जो हरा दिखाई पड़ता है पका हुआ केला खाने में तो कोई अड़चन नहीं वो तो पीला है इससे कोई अड़चन नहीं पैदा हो रही अंतकरण बाहर से पैदा किया जाता है ईसाई शराब पीने में कोई अड़चन नहीं पाते खुद जीसस शराब पीते थे शराब पीने में कोई अड़चन न थी कोई बुराई न थी किसी ईसाई को कोई बुराई नहीं लेकिन भारतीय मानस को बड़ी पीड़ा होती शराब की बात ही सुन के यहां मोरारजी देसाई समुद्र पी ले मगर शराब नहीं पी सकते उनके अंत्यकरण को कोई अड़चन नहीं आती समुद्र पीने आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि भारतीय मानस गौमूत्र तो जमानों से पीता रहा अरे जब गौमूत्र पीते रहे तो ये तो स्वावलंबन है गौमूत्री नहीं पीते रहे भारतीय हिंदू तो पंचामृत का सेवन करते पंचामृत का अर्थ होता है गोबर गौमूत्र दूध दही घी ये पांचों चीजों को मिला के घोट के पी गए तो पंचामृत पंचामृत पीने वाले देश में अभी मुरारजी देसाई ने तो एक ही अमृत खोजा अभी तुम देखना कोई आएगा और बड़ा महात्मा जो आदमी में से पंचामृत निकाले और वो भी हमें स्वीकार हो जाए उसमें भी हमें कोई अड़चन न होगी अंतकरण तो आत्मा नहीं अंतकरण तो बाहर का आरोपण है जिससे आत्मा को पाना हो उसे अंतकरण से मुक्त होना पड़ता है उसे न तो चाहिए ईसाई का अंतकरण न हिंदू का न मुसलमान का न जैन का न बौद्ध का उसे अंतकरण चाहिए ही नहीं बाहर से जो भी उसके ऊपर थोप दिया गया है आच्छादित कर दिया गया है उस सबको उसे त्याग देना होता है इसको ही मैं तपश्चर्या कहता हूं अंतकरण के त्याग को तब तुम्हारे भीतर तुम्हारे स्वभाव की जो वाणी स्वस्फूर्त किसी की सिखाई हुई नहीं तुम्हारे जीवन का ही जो स्वर जो संगीत वह सुनाई पड़ता है तो इस सूत्र का अनुवाद सहजानंद ऐसा ना करो कि जिसका अंतकरण शुद्ध है क्योंकि तब तो बड़ी गड़बड़ होगी एक हिसाब से किसी का अंतकरण शुद्ध होगा और दूसरे हिसाब से उसी का अंतकरण शुद्ध नहीं होगा जीसस का अंतकरण शुद्ध है या नहीं हालांकि वो शराब भी पीते और मांसाहार भी करते छोड़ो जीसस को रामकृष्ण का अंतकरण तो शुद्ध मानोगे कि नहीं रामकृष्ण तो परमहंस है मगर मछली तो खाते अंतकरण किसका शुद्ध है अंतकरण है तब तक शुद्धि हो ही नहीं सकती अंतकरण अर्थात अशुद्धि विजाति बाहर से कुछ डाल दिया गया उसी से तो तुम्हारे भीतर कीचड़ मची जब तुम्हारे भीतर सिर्फ वही रह जाए जो भीतर का है तो आत्म शुद्धि इसलिए जो सूत्र का शब्द है वो ज्यादा उचित है विशुद्ध सत्वा जिसके भीतर सत्व शुद्धि है जिसका स्वभाव जिसका स्वरूप शुद्ध हो गया है और उसका एक ही अर्थ होता है जिसके भीतर से जो भी विजाती है वो बाहर फेंक दिया गया जिसका विशुद्ध सत्व हुआ है वह न तो हिंदू होगा न मुसलमान न ईसाई न जैन न बौद्ध न पारसी न सिख वह तो सिर्फ चैतन्य मात्र होगा और ऐसी अवस्था में ही व्यक्ति स्वयं को जानता है आत्मवेदता बनता है अभी तो तुम अगर किन्हीं धारणाओं को मान के ध्यान भी करोगे तो वही जान लोगे जो तुम्हारी धारणा है जैसे ईसाई ध्यान करने बैठेगा तो उसको ईसा दिखाई पड़ने लगेंगे और जैन बैठेगा तो महावीर दिखाई पड़ने लगेंगे और बुद्ध बैठेगा तो बौद्ध की धारणाएं तो उसे बुद्ध का दर्शन होगा और कृष्ण का भक्त कृष्ण को देखेगा और राम का भक्त राम को देखेगा ये तो तुम्हारी धारणा का ही प्रक्षेपण है यह कोई आत्मबोध नहीं है जहां सारी धारणाएं गिर जाती जहां प्रक्षेपण करने को ही कुछ नहीं रह जाता जहां भीतर शून्य रह जाता है निर्विकार निर्विचार निर्विकल्प उस चैतन्य की अवस्था में स्वयं की जीत है व्यक्ति जिन बनता है बुद्ध बनता है जीतता है जागता है पहली बार जीतता है पहली बार जागता है और ऐसे आत्मवेदता के मन से यह सूत्र कहता है जिस जिस लोक की भावना हो अब किस लोक की भावना होगी क्या इसके ऊपर भी कोई लोक है आत्मबोध के ऊपर भी कोई बोध है बुद्धत्व के ऊपर भी कोई और संभावना है कोई और शिखर इस परम समाधि के पास अब क्या बचा है क्या ऐसा व्यक्ति स्वर्ग चाहेगा स्वर्ग तो बहुत पीछे छूट गए वे तो सपने हो गए क्या ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि इंद्र का आसन मिल जाए आसन की बात ही अब मूर्खतापूर्ण हो गई अब तो परम आसन मिल गया पद्मासन मिल गया वह कमल मिल गया जो शाश्वत है जो कालातीत है वह सुगंध मिल गई जो अब छूटेगी नहीं अब तो जीवन उत्सव हुआ अब तो रंगों की बहार आ गई अब तो वसंत आया अब तो फूल खिले अब तो गीत है संगीत है महोत्सव है अब तो दिए पर दिए जले कबीर ने कहा जैसे हजारों सूर्य एक साथ भीतर उगाए ऐसा आत्मवेदता की स्थिति होती अब क्या चाहेगा किस लोक की कल्पना करेगा उर्वशी को चाहेगा मैनका को चाहेगा इंद्रासन की फिक्र करेगा देवता बनना चाहेगा कल्प वृक्ष मांगेगा यह बात ही मूर्तापूर्ण हो जाएगी फिर तो यू हुआ कि आत्मज्ञान के पार भी कुछ बच रहा आत्मज्ञान भी फिर अंत न हुआ लक्ष्य न हुआ साधन ही रह गया और आत्मज्ञान साध्य है साधन नहीं तो आत्मवेत्ता के मन से जिस जिस लोक की भावना होगी इस सूत्र का कहना है और जिन जिन कामनाओं की कामना होगी वह उन उन कामनाओं को उन उन लोगों को प्राप्त कर लेता है पहले तो कामना ही नहीं होगी कामना के बीज ही दग्ध हो गए इसलिए तो पतंजलि ने ऐसे व्यक्ति को दग्ध बीज कहा है निर्बीज समाधि कहा है ऐसी अवस्था को यहां तो बीज ही ना बचे कामना के अब अंकुरण क्या होंगे जल गए बीज राख हो गए और यह सूत्र कहता है इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे आत्मवेदता की अर्चना करनी चाहिए पहली बात भी लोभ से भरी है और दूसरी बात भी लोभ से भरी है आत्मवेदता की इतनी क्षमता बता दी कि वो जो चाहे हो जाएगा जो मांगे मिलेगा तत्क्षण मिलेगा देर नहीं अबेर नहीं कहावत तुमने सुनी कि परमात्मा के घर देर हो मगर अंधेर नहीं ये अज्ञानियों के लिए ज्ञानियों के लिए ना तो देर है ना अंधेर उन्हें इधर मांगा उधर मिला मांग भी नहीं पाए कि मिला वो तो कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए ये भी लोभ की बात रही लोभ का ही विस्तार रहा और आगे भी लोभ की ही बात है इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे आत्मवेदता की अर्चना करनी चाहिए इसलिए जाओ आत्मवेदताओं के पास उनकी अर्चना करो पूजा करो वह भी किस लिए अपना कल्याण चाहने के लिए उसके पीछे भी चाह वहां भी वासना यहां लोग मंदिरों में जा रहे हैं मस्जिदों में जा रहे हैं गुरुद्वारों गिरजों में जा रहे हैं पूछो किस लिए जा रहे हैं वहां भी चाह है वहां भी वासना है और जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं और जहां वासना है वहां अर्चना कैसी वासना की दुर्गंध में अर्चना की सुगंध कैसे पैदा होगी लाख जलाओ धूप और लाख जलाओ दिए न होगी रोशनी न होगी सुगंध दुर्गंध को बहुत से बहुत छिपा लोगे अंधेरे को बहुत से बहुत ढांक लोगे मगर मिटेगा नहीं फिर फिर उभर आएगा ये जलाए दिए देर नहीं है बुझ जाएंगे और ये जलाई धूप जल्दी हवा उड़ा ले जाएगी फिर दुर्गंध अपनी जगह होगी ये धोखा है ये प्रवंचना है आत्मविदता व्यक्ति की भी अर्चना करना इस कामना से कि मेरा भी कल्याण हो जाए मेरा भी कल्याण इसका अर्थ क्या होगा इसका अर्थ होगा कि मैं भी उस जगह पहुंच जाऊं जहां हर चीज मांगने से मिल जाती जहां हर चीज चाहने से मिल जाती जहां कोई भी लोग चाहो देर नहीं लगती तत्क्षण वहां पहुंच जाते हो इसलिए आत्मवेत्ता व्यक्ति की भी अर्चना करनी चाहिए यदि लोभ का ही संबंध हुआ शिष्य और गुरु का संबंध लोभ का नहीं हो सकता और अगर वह भी लोभ का संबंध है तो फिर वह भी सांसारिक संबंध है फिर पत्नी का और पति का संबंध बाप का और बेटे का संबंध भाई और बहन का संबंध इन सारे संबंधों में ही गुरु और शिष्य का संबंध भी एक संबंध हुआ फिर उसमें कुछ गुणात्मक भेद ना रहा गुणात्मक भेद तब होता है जब बाकी सब संबंध तो लोभ के होते लाभ के होते लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध सिर्फ प्रेम का होता है ना लोभ का ना लाभ का प्रेम के संबंध का अर्थ होता है कि संबंध ही अपने आप में इतना बहुमूल्य है अब और क्या चाहना है शिष्य की अंतरतम भावना यह होती है कि गुरु मिल गया तो सब मिल गया अब कुछ पाने को नहीं अब कहीं जाने को नहीं और मजा यह है कि जिसके भीतर ऐसा सद्भाव पैदा होता है उसके ऊपर वर्षा हो जाती फूलों की सारा आकाश फूलों की वर्षा करने लगता है न तो उसने कुछ मांगा न उसने कुछ चाहा लेकिन सब बरस उठता है मंजू सिद्धि की प्यारी कथा है वो बुद्ध का पहला शिष्य है जो निर्वाण को उपलब्ध हुआ जिस दिन उसको बुद्धत्व प्राप्त हुआ जिस दिन उसने स्वयं को जाना बैठा था वृक्ष के नीचे शांत निर्विचार जाग कर अपने को देखता था देखते देखते बात बन गई बनते बनते बन जाती सद गई सब ठहर गया मन ठहर गया समय ठहर गया विचार पता नहीं कहा विलुप्त हो गए जैसे अचानक आकाश से बदलियां विदा हो गई और सूरज निकल आया गहन मौन सन्नाटा और तत्म उसने देखा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी ऐसे फूल जो उसने कभी देखे न कभी सुने ऐसी गंध जो उसने कभी जानी नहीं चौंका यह तो वसंत का मौसम भी नहीं जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उसमें तो एक फूल भी ना था इतने फूल इतने फूल कि जिनकी गणना असंभव बरसे ही चले जाते हैं बरसे ही चले जाते हैं उसने आंख उठाकर आकाश की तरफ देखा तो देखा कि देवता फूल बरसा रहे यह तो कथा है प्रतीक कथा है इतिहास मत समझ लेना इसके भीतर अर्थ तो गहरा है लेकिन तथ्य मत मान लेना सत्य तो बहुत है मगर तथ्य जरा भी नहीं सत्य को कहना हो तो यूं ही कहा जा सकता है घूम फिर के ही कहना होता है सीधा कहने का उपाय नहीं तो मंजूश्री ने पूछा उन देवताओं से जो फूल बरसा रहे थे कि तुम्हें क्या हो गया ये किस लिए फूल गिराए जाते हो तुम शायद कुछ भूल चूक में हो बुद्ध तो वहां दूर दूसरे वृक्ष के नीचे बैठे वहां गिराओ फूल मैं तो मंजूश्री हूं उनका एक छोटा सा शिष्य हूं उनके प्रेम में लग गया हूं मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और जो फूल चाहिए थे मुझे मिल चुके और तुम्हें अर्चना करनी हो तो उनकी करो वे रहे मेरे गुरु और मुझ पर क्यों फूल गिराते हो मैंने तो कुछ किया ही नहीं मेरी तो कोई पात्रता भी नहीं कोई योग्यता भी नहीं उन देवताओं ने कहा मंजुश्री हम फूल गिरा गिरा रहे हैं उस महत अवसर के स्वागत के समय में जब तुमने शून्य पर अद्भुत प्रवचन दिया है मंजूश्री ने कहा शून्य पर प्रवचन मैं एक शब्द बोला नहीं देवता हंसे और उन्होंने कहा न तुम एक शब्द बोले और न एक शब्द हमने सुना न तुमने कुछ कहा न हमने कुछ सुना इसी को तो कहते हैं शून्य पर महाप्रवचन उसी खुशी में हम फूल गिरा रहे हैं तुमने कहा नहीं हमने सुना नहीं और बात हो गई बिन कहे बात हो गई इसलिए फूल गिर रहे अब ये फूल तुम पे गिरते ही रहेंगे ये फूल गिरना शुरू होते फिर बंद नहीं होते समझना यह तो बोध कथा है प्रतीक कथा है ऐसे झाड़ के नीचे बैठ के और बार बार आंखें उठा के ऊपर मत देखना कि देवता वगैरह आए कि नहीं पुष्पक विमान पर बैठे हुए फूल वगैरह लाए कि नहीं नहीं तो उसी में सब गड़बड़ हो जाएगा तुम तो इतना ही जानना कि शून्य प्रवचन क्या है वह हो जाए तो कुछ आकाश से फूल बरसाने की जरूरत नहीं होती तुम्हारे भीतर ही फूल उमक आते अंतस लोक में ही वसंत आ जाता है फिर कैसी कामनाएं फिर कैसी वासनाएं और शिष्य को तो सवाल ही नहीं उठता कि आत्मवेदता पुरुष की अर्चना इसलिए करे क्योंकि उसकी बड़ी शक्ति है आत्मवेदता पुरुष की महान उपलब्धि है नहीं शिष्य तो अकारण प्रीति में पड़ता प्रीति तो सदा अकारण होती जहां कारण है वहां व्यवसाय है जहां कोई कारण नहीं अब कोई मेरे सन्यासियों से पूछे कि मुझसे क्या उन्हें मिल रहा है कुछ भी तो नहीं कोई मेरे सन्यासियों से पूछे कि मुझसे क्यों बंधे हो मेरे पास क्यों बैठे हो वर्ष आते हैं वर्ष जाते हैं और तुम मेरे पास रुके हो क्यों तो मेरे सन्यासी उत्तर न दे सकेंगे जो उत्तर दे सके वो मेरे सन्यासी नहीं कोई उत्तर ना दे सकेंगे उत्तर का कोई सवाल नहीं है बेबूझ है बात सहजानंद मुंडकोपनिषद के सूत्र का मैं तुम्हें क्या अभिप्राय कहूं यह सूत्र एकदम गलत है आधारभूत रूप से गलत है सूत्र बिल्कुल विच्छिन्नतापूर्ण है किसी पागल ने कहा होगा किस तरह मुंडकोपनिषद में प्रवेश कर गया पता नहीं लेकिन पंडित जो ना कर जाए थोड़ा है पंडित तो एक उपद्रव है न उन्हें पता है लेकिन दुर्भाग्य तो यही कि वे ही संकलन करते महावीर बोले लेकिन संकलन किया पंडितों ने यह संयोगिक बात नहीं कि महावीर के ग्यारह गणधर उनके जो ग्यारह प्रमुख शिष्य थे ग्यारह के ग्यारह ब्राह्मण थे महावीर तो छत्री थे जैनों के चौबीस तीर्थंकर ही छत्री है असल में वह क्षत्रियों की बगावत थी ब्राह्मणवाद के खिलाफ पांडित्यवाद के खिलाफ लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि महावीर के वचन भी संकलन तो किए ब्राह्मणों ने वो ग्यारह गणधर ही ब्राह्मण थे और वही बात विकृत हो गई वही उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया वही स्रोत पर ही जहर मिल गया बुद्ध तो छत्री थे सच तो यह है जिन्हें स्वयं को जानना हो उन्हें किसी अर्थ में छत्री ही होना पड़ता है छत्री का अर्थ है वह भी एक विजय यात्रा है एक घनघोर घमासान युद्ध है स्वयं के अंधकार से उन्हें भी तलवार उठानी पड़ती किसी और के खिलाफ नहीं अपने ही तमस के खिलाफ अपनी ही तंद्रा के खिलाफ अपनी ही निद्रा के खिलाफ लेकिन बुद्ध को भी जो संकलन करने वाले लोग मिले वे तो पंडित ही थे वे तो ब्राह्मण ही थे बस वही विकृति हो जाती पंडित भाषा का ज्ञाता होता है व्याकरण का ज्ञाता होता है शब्दों का धनी होता है लेकिन अनुभव उसके पास कुछ भी नहीं होता और यह सारा मामला अनुभव का है पंडित तो तोते की भांति होता है रट लेता है दोहरा देता है लिख देता है यंत्रवत उसकी अपनी अनुभूति तो नहीं होती मगर मैं मजबूरी भी समझता हूं मुंडकोपनिषद जिसने कहा होगा वह तो परम ज्ञानी रहा होगा क्योंकि इसमें ऐसे सूत्र हैं जो अपूर्व हैं जो कि बिना अनुभव के नहीं कहे जा सकते लेकिन कठिनाई ये है कि जिसने कहे हैं वह तो बुद्ध रहा होगा मगर दूसरे बुद्ध को तुम कहां से पाओगे जो तुम्हारे सूत्रों को लिखे कोई बुद्धू ही लिखेगा कोई बुद्ध क्यों लिखेगा किस लिए लिखेगा बुद्ध के जीवन में ऐसी कथा है जो प्रीतिकर है बुद्ध की मृत्यु हुई जब तक जीवित थे किसी ने फिक्र ही न की थी कि उन्होंने जो कहा है वो संकलित कर लिया जाए ऐसे आनंद में थे ऐसे अहोभाव में थे कि किसको चिंता पड़ी थी रोज दिए जल रहे थे रोज दिवाली थी रोज रंग बिखर रहे थे रोज भाग थी किसको फुर्सत थी क्या लिखे लेकिन बुद्ध की मृत्यु के बाद जो पहला सवाल उठा शिष्यों के सामने वो यही था कि अब उनके वचनों को संकलित कर लिया जाए और तुम चकित होगे जानकर कि जो लोग संकलित कर सकते थे वो तो भूल ही भाल चुके थे मंजूश्री जो पहला बुद्ध था बुद्ध के शिष्यों में उससे कहा उसने कहा मुझे तो कुछ याद नहीं मुझे तो अपनी याद नहीं कैसे रस में भीगे हुए दिन बीते कौन शब्दों की फिक्र करता मुझे पक्का पक्का नहीं कि उन्होंने क्या कहा और मैंने क्या सुना उन्होंने क्या कहा और मैंने क्या समझा और जब से मैं जागा तब से तो बात शब्दों की रही ना थी एक मौन संवाद था उस मौन संवाद को लिखूं भी तो कैसे लिखूं उसके लिए तो कोरा कागज ही काफी है सारी पुत्र से पूछा साथी पुत्र ने कहा मुश्किल है बात जब तक मैं जागा नहीं था तुमने अगर कहा होता तो लिख देता क्योंकि तब तक शब्दों पर ही पकड़ थी जब मैं जागा तो निशब्द में उतर गया अब तो पक्का नहीं है मैं लिखूं भी तो यह तय करना मुश्किल होगा कि ये मेरी बात लिख रहा हूं कि बुद्ध की बात लिख रहा हूं अब तो सब गोलमोल हो गया अब तो सब तालमेल टूट गया भेद टूट गए अब तो मेरी सरिता भी उनके सागर में मिल गई तो मेरी बात का तुम भरोसा ना करना बात तो मेरी सच्ची होगी खरी होगी मगर मेरी है कि उनकी ये तय करना नहीं हो सकता अपनी बात लिख सकता हूं मगर ये दावा मैं नहीं कर सकता कि ऐसा उन्होंने कहा था जरूर कहा होगा मगर निश्चयात्मक रूप से मैं कोई दावा नहीं कर सकता मोगलान से पूछा उसने कंधे बिछका दी उसने कहा कौन इस झंझट में पड़े जितने शिष्य बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए थे वो कोई राजी न थे सिर्फ आनंद जो बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ था वो राजी था उसे सब याद था उस बेचारे के पास और तो कोई संपदा ना थी शब्दों को ही संजोता रहा था इकट्ठा करता रहा था जो जो बुद्ध बोलते थे उसको इकट्ठा करता रहता था उसके पास कोई प्रज्ञा तो नहीं थी मगर स्मृति थी प्रज्ञा हो तो स्मृति की क्या चिंता और प्रज्ञा न हो तो स्मृति ही एकमात्र धन है बड़ी विभूचन बड़ी विडम्बना खड़ी हो गई सारे शिष्य इकट्ठे हुए थे उन्होंने कही बड़ी मुश्किल की बात है जिनकी बात का भरोसा हो सकता है वो लिखने को राजी नहीं और जिसकी बात का कुछ भरोसा नहीं वो लिखने को राजी आनंद से लिखवाना है क्या हालांकि जो भी वो कहेगा वही कहेगा जो बुद्ध ने कहा था लेकिन अज्ञानी ने सुना है जैसे किसी ने नींद में सुना हो मैं यहां बोल रहा हूं तुम में से कई यहां सोए होंगे वो भी सुन रहे होंगे मगर नींद में सुन रहे होंगे कुछ सुना जाएगा कुछ नहीं सुना जाएगा कुछ का कुछ सुना जाएगा स्वाभाविक है और फिर अगर तुमसे कहा जाए लिखो तो तुम जो लिखोगे उसकी क्या प्रमाणिकता होगी आनंद ने कहा मैं लिख तो सकता हूं लेकिन प्रमाणिकता का दावा मैं नहीं कर सकता अब तुम देखते हो विडम्बना जो प्रमाणिक हो सकते हैं वो लिखने को राजी नहीं थे जो लिखने को राजी था उसने कहा मैं प्रमाणिक नहीं हो सकता है तो फिर बुद्ध के शिष्यों ने एक उपाय ही खोजा उन्होंने आनंद से कहा तू एक काम कर तू तो किसी तरह सारा श्रम लगा के बुद्धत्व को उपलब्ध हो जा क्योंकि हम तेरी बातों का तब तक भरोसा ना करेंगे जब तक तू बुद्धत्व को उपलब्ध ना हो जाए और तुझे सब बातें याद है और तू सबसे ज्यादा बुद्ध के साथ रहा बयालीस साल सतत एक क्षण को भी बुद्ध को तूने नहीं छोड़ा इतना साथ कोई उनके रहा नहीं दिन भी तू साथ रहा रात भी तू साथ रहा रात भी उसी कमरे में सोता था जिसमें बुद्ध सोते थे उनकी सेवा में ही सब कुछ समर्पित कर दिया था उसने तो हमें भरोसा है मगर तेरे भीतर जागरण तो हो और जब आनंद जागृत हुआ है तब उन्होंने उसके वचनों को स्वीकार किया लेकिन झगड़ा तत्क्षण शुरू हो गया आनंद ने तो वचन लिख दिए लेकिन छत्तीस संप्रदाय पैदा हो गए क्योंकि बुद्धों के अलग अलग लोगों ने कहा कि ये आनंद के शब्द हम स्वीकार नहीं कर सकते किसी ने कहा हम ये स्वीकार नहीं कर सकते किसी ने कहा कि ये हमें स्वीकार है मगर और बातें स्वीकार नहीं अज्ञानियों के छत्तीस खंड हो गए ज्ञानी तो चुप रहे अज्ञानियों ने संप्रदाय बना ली बुद्ध को मरे दिन भी न हुए थे कि वह महा ज्योति टुकड़ों टुकड़ों में टूट गई और सत्य जब टुकड़ों में टूटता है तो असत्य से भी बदतर हो जाता है सहजानंद जिसने भी मुंडकोपनिषद के मूल सूत्र कहे होंगे वह जरूर बुद्धत्व को उपलब्ध रहा होगा लेकिन जिन्होंने लिखे होंगे उन्होंने बहुत कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया होगा और ऐसा भी नहीं कि जान के लोग जोड़ते मैं उनकी सद्भावना पर संदेह नहीं करता हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी भावना गलत रही होगी मगर मजबूरी है बेहोश आदमी की बेहोशी में वो जो भी करेगा कितनी ही सद्भावना से करे सदिच्छा से करे गलत तो हो ही जाएगा अब तुम देखते हो ये सूत्र है यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा काम यते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश कामाम इस हश्चर्य भूति कामा लेकिन जिसने अनुवाद किया उसने भी भूल चूक कर दी जिसका अंतकरण शुद्ध है विशुद्ध सत्व उसका अनुवाद हो गया जिसका अंतकरण शुद्ध है भारी चूक हो गई अंतकरण से मुक्त होता है कोई तभी विशुद्ध सत्व होता है और यहां तो बात ही उल्टी हो गई जिसका अंतकरण शुद्ध है ऐसा आत्मवेदता मन से जिस जिस लोग की भावना करता आत्मवेदता का मन रह जाता है मन की जरूरत क्या है ये तो यूं हुआ कहानी है कि जीसस ने एक अंधे आदमी की आंखों को छुआ आंखें ठीक हो गईं स्वभावता अंधा आदमी था तो लकड़ी टेक टेक के चलता था आंखें तो ठीक हो गईं जीसस को धन्यवाद देकर वो जाने लगा मगर अपनी लकड़ी भी साथ ले चला जीसस ने कहा मेरे भाई कम से कम धन्यवाद में लकड़ी तो मुझे दे जा लकड़ी तो छोड़ दे वह अंधा आदमी क्या बोला उसने कहा बिना लकड़ी के मेरा कैसे चलेगा आंखें आ गई मगर पुरानी आदत जिंदगी भर की आदत लकड़ी से टटोल टटोल के चलता था लकड़ी ही उसकी अब तक की आंख थी आज आंख भी आ गई तो वो घटना इतनी नई थी कि अभी तक उस घटना का संप्रेषण भीतर तक नहीं हुआ उसने कहा लकड़ी में कैसे छोड़ सकता हूँ बिना लकड़ी के मेरा कैसा चलेगा मालिक बिना लकड़ी के तो मैं एक कदम न चल सकूंगा इसी से टटोल टटो टेक टेक के तो चलता हूँ जीसस ने कहा पागल अब तेरी आंखें ठीक हो गई अब लकड़ी से क्यों टटोलेगा अंतकरण तो अंधे आदमी की लकड़ी विशुद्ध सत्वा वह तो अंधे आदमी की आंख का ठीक हो जाना अब वहां अंतकरण की क्या जरूरत है अंतकरण तो समाज थोपता है इसलिए ताकि किसी तरह तुम आचरण की सीमा में चलते रहो लेकिन जिसकी आत्मा जग गई अब उसके लिए ऊपर कोई आचरण की सीमा नहीं रह जाती वह आचरण मुक्त होता है अब तो वह जो करेगा वही ठीक है अज्ञानी को बताना पड़ता है कि तुम ठीक करो और गैर ठीक ना करो ज्ञानी जो करता है वही ठीक है जो नहीं करता वही ठीक नहीं क्रांतिकारी अंतर हो गया लेकिन जरा से अनुवाद में एक शब्द के अनुवाद में सारा अर्थ बदल गया और आत्मवेदता अभी भी मन मन का अर्थ होता है मनन करने की क्षमता मनन से ही तो मन बना मन से ही तो मनुष्य शब्द बना वो जो मनन करता है मनुष्य वो जो मनन की भीतर हमारे प्रक्रिया है उसका नाम मन लेकिन जिसको आंख मिल गई वो मनन थोड़ी करता है अंधा आदमी सोचता है कि दीवाल कहां दरवाजा कहां पूछता है कि बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं आंख वाला आदमी तो उठता है और दरवाजे से निकल जाता है उसे दिखाई पड़ता है मनन करना ही नहीं पड़ता ठीक ऐसा ही जिसका विशुद्ध सत्व हुआ जिसके भीतर समाधि का फूल खेला जिसके भीतर समाधि की आंख खुली अब मनन करेगा अब मनन किस लिए करेगा अंधा आदमी सोचता है कि प्रकाश कैसा होता है आंख वाला आदमी तो कभी नहीं सोचता कि प्रकाश कैसा होता है वह तो जानता ही है बहरा आदमी शायद सोचता हो कि ध्वनि कैसी होती है कान वाला आदमी तो जानता है कि ध्वनि कैसी होती है जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई उसको मनन की जरूरत नहीं रह जाती वह सोचता ही नहीं वह देखता है वह दृष्टा है वह मनुष्य के पार हो गया है उसने मनुष्य का अतिक्रमण कर लिया मन का अतिक्रमण हुआ कि मनुष्य का भी अतिक्रमण हो जाता है अब कहा मन कहा के लोक सब स्वप्न है तुम्हारे लोक नरक भी तुम्हारा स्वप्न है स्वर्ग भी तुम्हारा स्वप्न है ये कोई स्थान नहीं ये कोई भौगोलिक जगह नहीं नरक भी तुमने निर्मित किया है अपने भय से और स्वर्ग भी तुमने निर्मित किया है अपने लोभ से इसलिए तुमने स्वर्ग में वह सब व्यवस्था कर ली जो तुम्हारा लोभ चाहता है और नरक में तुमने वह सब व्यवस्था कर दी जो तुम उनके लिए दंड देना चाहोगे जो तुम्हारे साथ चलने को राजी नहीं दुश्मनों के लिए नरक दोस्तों के लिए स्वर्ग अपने वालों के लिए स्वर्ग पराओं के लिए नरक लेकिन नरक कहीं है थोड़ी न स्वर्ग कहीं है जिस दिन तुम भय और लोभ से मुक्त हो गए उसी दिन तुम देख लोगे ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है हाँ जब तक तुम भय से भरे कप रहे हो नरक में ही हो और जब तक तुम स्वर्ग से लालायत डमाडोल हो रहे हो तब तक दोनों चीजें सत्य मालूम पड़ती मगर वो प्रतीतियां हैं भ्रांतियां हैं जहां मन स्थिर हुआ शांत हुआ मौन हुआ दोनों ही खो जाते और उन दोनों के खो जाने पर क्या मांगोगे लोग कौन सी कामनाएं करोगे सुना है मैंने एक आदमी भूला भटका स्वर्ग पहुंच गया थका मांगा था एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने को लेट गया उसे पता न था कि ये कल्प वृक्ष इसके नीचे लेटो और बैठो और जो भी कामना करो पूरी हो जाती कहानी मधुर है भूखा था मन में ख्याल उठा कि काश इस वक्त कहीं से भोजन मिल जाता बड़ी भूख लगी ऐसा उठना था विचार का कि तत्क्षण सुस्वादु भोजनों से भरे हुए स्वर्ण थाल प्रकट हो गए वो इतना भूखा था इतना थका था कि उसने सोचा भी नहीं कि कहां से आए कौन लाया भूखा आदमी क्या सोचे ये सब भरे पेट की बातें उसने तो जल्दी से भोजन किया पेट भर गया तो सोचा कि कहीं से कुछ पीने को मिल जाए कोका कोला फेंटा नहीं तो लिमका ही सही और देख के हैरान हुआ कि कोका कोला फेंटा लिमका सब चले आ रहे थोड़ा चौंका भी कि कोका कोला तो बंद हो गया था मगर तस्करों की कृपा से सभी कुछ उपलब्ध होता है तस्करी जो ना कर दे थोड़ा असंभव को संभव बना देती फिर किसको फिक्र पड़ी थी अभी तो बहुत थका था कोका कोला पी के लेटने लगा लेटने लगा तो सोचा कि पेट तो भर गया मगर कंकड़ पत्थर है जमीन साफ सुथरी नहीं ऐसे समय में तो कोई गद्दी होनी थी सुंदर सेज होती तो आज जैसी गहरी नींद आती जैसा घोड़े बेच के आज सोचा सोता ऐसा कभी नहीं सोया था अचानक देख के हैरान हुआ कि पलंग चला आ रहा है थोड़ा सकचाया भी कि क्या क्या हो रहा है मगर नींद इतनी गहरी आ रही थी उसने भी कहा कि बाद में देखेंगे विचार वगैरह सब बाद में कर लेंगे सो गया पलंग पर बड़ा चकित हुआ कि डंडक की गद्दिया मगर उसने कहा पीछे जग के देखेंगे जब जगा तब थोड़ा सा चिंतित हुआ कि इस निर्जन स्थान में इस वृक्ष के नीचे वृक्ष का के आसपास न तो कहीं कोई रेफ्रिजरेटर दिखाई पड़ता है नुकी जात दिखाई पड़ता है कोका कोला प्रकट हुए भोजन आया यही नहीं बिस्तर भी प्रकट हुआ टटोल के बिस्तर ठीक से देखा कि है भी कि मैं कोई कल्पना कर रहा हूं लेकिन है थोड़ा डरा कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है इस वृक्ष में बस जैसे ही सोचा कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं हो कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं छिपे मैं किन्हीं भूत प्रेतों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया हूं कि तत्क्षण चारों तरफ भूत प्रेत एकदम जैसे आनंद मार्गी तांडव नृत्य करते ऐसा आदमियों की खोपड़ियां लेके एकदम नृत्य करने लगे उसने कहा मारे गए और मारा गया कल वृक्ष नीचे तो जो कहोगे वही हो जाएगा वो कोका कोला बहुत महंगा पड़ा मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी जब कांच कह ही चुका कि मारे गए तो वो समानंद मार्गी पटक के खोपड़िया वगैरह उसकी गर्दन तोड़ दी उन्होंने इसी तरह तो खोपड़िया इकट्ठी करते नहीं तो फिर खोपड़िया इकट्ठी कहां से करो यही जो कल वृक्षों के नीचे फंस जाते इन्हीं की खोपड़िया फिर तांडव नृत्य के काम में आती न तो कहीं कोई स्वर्ग है न कहीं कोई नरक है न तो डरो नरक की अग्नि से न कामना करो स्वर्ग के सुखों की सब तुम्हारे मन के जाल है यहां चूंकि जीवन में दुख है इसलिए तुम उसके विपरीत स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो और क्योंकि दूसरे यहां मजा लूटते दिखाई पड़ रहे हैं उनके लिए तुम नरक का इंतजाम कर रहे हो तुम अपने को सांत्वना दे रहे हो कि कोई फिक्र नहीं अरे चार दिन की जिंदगी है और यूं ही कटी जा रही है अभी झेल लो दुख कोई फिक्र नहीं थोड़ा सा दुख फिर स्वर्ग के सुख ही सुख और ये जो दुष्ट मजा कर रहे गुलछर्रे उड़ा रहे उड़ा लो अरे दो दिन की बात है फिर सड़ोगे फिर नरकों में पड़ोगे तब याद करोगे तब चिल्लू चिल्लू पानी को तरसोगे ये सांत्वनाएं हैं ये अपने को समझाना है काल एकदम गलत नहीं है जब वो कहता है कि धर्म अफीम का नशा है इसमें थोड़ी दूर तक सच्चाई है निन्यानबे प्रतिशत लोग जिसको धर्म समझते हैं वो निश्चित ही अफीम का नशा है हाँ बुद्ध का और कृष्ण का और महावीर का और जीसस का धर्म जरूर अफीम का नशा नहीं है मगर उस धर्म से कितने लोगों का संबंध है पंडितों पुरोहितों का ये जो विराट जाल फैला हुआ है ये तो सिर्फ अफीम ही बेच रहे ये तो तुम्हें सिर्फ किसी तरह बेहोश रखने की कोशिश कर रहे हैं जिंदगी में दुख है थोड़ी बेहोशी चाहिए ताकि दुख झेल लो और जिंदगी में दुख है इसलिए थोड़ी कल्पना का जाल चाहिए ताकि उसकी आशा में बंधे हुए कुछ तो सांत्वना रहे मगर ये सारी बातें अज्ञानी के लिए है आत्मवेदता के लिए नहीं इसलिए सहजानंद अगर मेरे हाथ में बात हो तो इस तरह के सूत्रों को उपनिषदों से निकाल के बाहर कर दू इस तरह के सूत्र ही उपरिषदों की महिमा को खंडित कर रहे हैं नष्ट कर रहे हैं मगर जो जाल खड़ा है उपनिषदों के पीछे गीता के पीछे धर्मशास्त्रों के पीछे जो न्यस्त स्वार्थ लाभ उठा रहे हैं वे तो इन्हीं सूत्रों पर जी रहे मैं जिन सूत्रों को अलग कर देना चाहूंगा वही सूत्र उनके लिए प्राण है और जिन सूत्रों को मैं बचा लेना चाहूंगा वही उनके लिए जहर हो जाएंगे इस संबंध में ये दूसरा प्रश्न तुम सुनो सत्य वेदांत ने पूछा है भगवान हाल ही में अपने एक वक्तव्य में श्री डोंगरे महाराज ने कहा कि जो मनुष्य देवता की पूजा किए बिना अन्न खाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है उन्होंने कहा कि ब्रह्म दर्शन पहले मूर्ति में होता है श्री डोंगरे महाराज ने बताया कि गणपति की पूजा करने के बाद ही पानी पीना चाहिए और गणपति ही एक ऐसे देवता हैं जो हाथ में लड्डू लिए बैठे इस लड्डू में मीठापन क्योंकि ज्ञान ही लड्डू उन्होंने बताया कि माता जी शक्ति की पूजा भी आवश्यक है बिना शक्ति के जीवन बेकार है शक्ति से ही भक्ति होती और भक्ति से ध्यान ध्यान में थिरता आती गणपति का ध्यान करने से विघ्न नहीं आता और माता जी के ध्यान से शक्ति आती श्री डोंगरे महाराज ने शिव को संयम की मूर्ति बताया और कहा कि संयम से ही शक्ति बढ़ती है इसलिए शिव की पूजा करनी चाहिए भगवान आप इन वक्तव्यों पर कुछ कहने की अनुकंपा कर सत्य वेदांत डोंगरे का बालामृत पियो उससे सब समझ में आ जाए बालकों के लिए डोंगरे का बालामृत उससे शक्ति भी आएगी भक्ति भी आएगी और गजब की चीजें होंगी और डोंगरे का बालामृत मीठा भी होता क्या लड्डू इस तरह के लोग हैं क्या क्या लोगों को समझा रहे हैं सीधे सीधे डोंगरे का बालमृत ही बेचे तो ठीक मगर क्या क्या व्यर्थ की बकवास और कचरा एक एक बात को थोड़ा सोचो पहली बात कि जो मनुष्य देवता की पूजा किए बिना अन्न खाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है तो बाकी कामों के संबंध में क्या कहोगे जो आदमी देवता की पूजा किए बिना सोता है वह पाप सोता है जो आदमी देवता की पूजा किए बिना चलता है वो पाप चलता है तो 24 घंटा देवता की पूजा करो और देवता भी कोई एक दो हिंदुस्तान में तो 33 करोड़ देवता ये 60-70 साल की जिंदगी तो यूं चली जाएगी पूरे तैतीस करोड़ देवताओं की पूजा भी ना हो पाएगी और उनने भी कितनी पूजाएं बता दी इस छोटे से प्रश्न में ही कितनी ही पूजाएं आ गई शक्ति की पूजा करो गणपति की पूजा करो शिव की पूजा करो और सबका सार बताते गए वो कि किस किस से क्या क्या मिलेगा देवता की पूजा किए बिना अन्न खाने से या सोने से या उठने से पाप का कोई संबंध नहीं है देवता किसे कहते हो सूर्य भी देवता है और चांद भी देवता है और हनुमान जी भी देवता है और गणेश जी भी देवता है और देवता ही देवता भरे हुए हैं हाँ पूजा का भाव जीवन में होना चाहिए और पूजा का भाव का देवताओं से कोई संबंध नहीं तुमसे संबंध है नहीं तो कोई मुसलमान गणपति की तो पूजा करता नहीं न कोई ईसाई करता है न कोई पारसी करता है तो ये बिचारे लड्डू से वंचित रह जाए इस लोक में भी लड्डू मिल नहीं रहे परलोक में भी वंचित किए दे रहे तुम्हें पक्का पता है पूछना डोंगरे महाराज कि वो जो गणपति हाथ में लिए बैठे वो लड्डू है क्योंकि बहुत बड़े पंडित महापंडित राहुल संस्कृतायन जीवन भर ये सिद्ध करते रहे वो लड्डू नहीं अंडा है वो भी महापंडित थे उन्होंने बड़ा समय लगाया इसको सिद्ध करने में एक अंडा है वो अंडे के भक्त थे वो असल में खुद अंडा खाते थे तो अपने अंडे के लिए समर्थन तो खोजना पड़ेगा और अब कैसे सिद्ध करोगे कि अंडा है कि लड्डू है गणेश जी हैं इनका भरोसा भी क्या है इनकी सकल सूरत तो देखो ये अंडा भी खाते रहे हो तो कुछ आश्चर्य नहीं ये जो इस तरह की व्यर्थ की बातें हैं ये लोगों को प्रीति कर लग जाती हैं क्योंकि लोग टटोल रहे हैं कि कोई भी सहारा मिल जाए कोई भी वैसाखी मिल जाए मैं पूजा का तो पक्ष पाती हूं लेकिन पूजा का कोई संबंध देवताओं से नहीं है पूजा तो भीतर की भाव दशा है पूजा तो कृतज्ञता का बोध है धन्यवाद है ये जो अस्तित्व है इसने इतना दिया है जीवन दिया है आनंद की क्षमता दी है ज्ञान की संभावना दी है बुद्धत्व के बीज दिए क्या चाहिए और इसने इतना दिया है और तुम धन्यवाद भी ना दोगे और किन्हीं क्षणों में क्या तुम्हारा मन नहीं होता कि घुटने के बल टिक जाओ झुक जाओ किसके प्रति ये सवाल नहीं है झुकना तो मेरे भेद को समझ लेना डोंगरे महाराज का जोर है किसके प्रति मेरा जोर है तुम्हारे झुकने के ऊपर तुम्हारे समर्पण पर जैसे ही हमने बाहर की चीज पे जोर दिया धर्म समाप्त हो जाता है दुकानदारी शुरू हो जाती है धर्म का संबंध है भीतर से भीतर एक समर्पण का भाव होना चाहिए भीतर एक गहन धन्यता प्रतीत होनी चाहिए इतना दिया है मुझे अपात्र को कोई गणपति ने नहीं दिया है और न कोई शिव जी ने दे दिया है और न कोई शक्ति माता ने दे दिया है ये जो पूरा विराट अस्तित्व है ये जो समग्री भूत अस्तित्व है इसकी ही भेंट है इसको नाम मत दो इसको अनाम ही छोड़ दो ये अनाम ही है इस अनाम के प्रति जीवन में सदा धन्यवाद का भाव होना चाहिए फिर तुम भोजन करो और चाहे विश्राम करो चाहे चलो चाहे बैठो चाहे उठो तुम्हारे भीतर ये अनुगूंज बनी रहनी चाहिए शब्द में भी बांधने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ कहने की और चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि तुम पतित पावन हो और मैं पापी हूं और मुझे बचाओ और तुम बचावनहार हो और इस सब बकवास की कोई जरूरत नहीं सिर्फ एक मौन धन्यवाद तुम्हारे भीतर झरने की तरह कल कल नात करता रहे उसे मैं कहता हूं पूजा पूजन अर्चन वंदन फिर फिक्र नहीं करनी पड़ती नहीं तो बड़ी झंझटें खड़ी हो जाती मीरा ने कहा है मुझे पूजा की विधि नहीं आती अर्चन का ढंग नहीं आता मुझे पता नहीं क्या गाऊं क्या न गाऊं मगर फिर भी मीरा ने जो पूजा की वो बेचारे डोंगरे महाराज क्या करेंगे न पूजा की विधि है न अर्चन का ढंग है मूसा के जीवन में उल्लेख वो एक जंगल से गुजर रहे हैं और ठिटक के खड़े हो गए बात ही ऐसी थी कि ठिटक के खड़े हो जाना पड़ा एक चरवाहा गड़रिया सांझ की प्रार्थना कर रहा था सूरज डूब रहा है और वो सांझ की प्रार्थना कर रहा दोनों हाथ ऊपर उठाए आकाश की तरफ देख रहा और कह रहा है प्रभु अरे तू मुझे अपने पास बुला ले अकेले रहते रहते थक गया होगा परेशान होता होगा और मैं तेरे सब काम निपटा दूंगा अरे मैं कई काम जानता हूं मूसा तो बड़े हैरान हुए ऐसी प्रार्थना उन्होंने सुनी ना थी कभी कि ये आदमी ये बता रहा है कि मैं कई काम जानता हूं और तू थक गया हो अकेले अकेले और मेरे बिना तेरा कैसे काम चलेगा कब तक चलेगा तू मुझे बुला ही ले और देख मैं मालिश भी कर देता हूं चंपी भी कर देता हूं तू थक जाएगा तेरे पैर दबा दूंगा पता नहीं कोई तुझे नहलाता करता है या नहीं मैं तुझे खूब घिस घिस के नहलाऊंगा तुझे भरोसा ना हो तो मेरी भेड़ों को देख ले अरे ऐसी झक भक भेड़े कहीं हैं किसी और गलरिए के पास है जरा बर्दाश्त के बाहर होने लगा मूसा की कि क्या प्रार्थना हो रही और तब तो उसने हद कर दिया खीर में बोला और अगर तेरे जुए वगैरह पड़ जाएंगे तो वो भी निकाल दूंगा अरे भेड़ों तक के निकाल देता हूँ मूसा ने कहा चुप नालायक बदतमीज ईश्वर को जुए पड़ जाएंगे और तू निकालेगा और तू समझ रहा तू प्रार्थना कर रहा अगर एक शब्द भी मुंह के बाहर निकाला तो वो चांटा मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा बंद कर ये प्रार्थना किसने तुझे प्रार्थना सिखाई वो गड़ लिया तो बेचारा एकदम पैरों पर गिर पड़ा मूसा के उसने कहा कि हजरत मुझे किसी ने सिखाई नहीं मैं तो गरीब आदमी बेपढ़ा लिखा खुद ही बना लेता हूँ और जब जैसी बन जाती अब आज यही बन गई अब ये कोई रोज की थोड़ी है आप नाराज ना हो ये तो रोज बदल जाती जब जैसा मौका आ जाता जैसे सर्दी बहुत है तो मैं कहता हूँ कि तू अगर मैं होता तेरे पास कंबल उड़ा देता या बहुत धूप पड़ रही होती तो मैं कहता हूँ देख छत्ता लगा देता अब कोई पता नहीं है भी वहां या नहीं तू अकेला किस किस मुसीबत में नहीं पड़ा होगा कोई तेरा देखने वाला रखवाला भी है या नहीं और मैं हूं तू बुला क्यों नहीं लेता अरे तेरे आज्ञा की जरूरत है इशारा कर दे तो ये तो बदल जाती है आप इतने नाराज ना हो ये तो समय समय बदल जाती जैसे बीमारी फैल जाती कोई को हैजा हो गया किसी कुछ तो मुझे डर लगता उसको हैजा ना हो गया तो मैं कहता हूं तू बिल्कुल मत घबरा अरे मुझे जड़ी बूटी मालूम घोट के पिला दूंगा एक एक मात्रा में तो इलाज कर दूंगा तेरा मूसा का तू तो हद कर रहा है तू तो और आगे बढ़ा जा रहा है जिंदगी हो गई मुझे प्रार्थना करते जिंदगी हो गई प्रार्थना लोगों को समझाते मगर तू गजब का धार्मिक आदमी मेरा ये नालायकी की बातें ये बंद कर मैं तुझे प्रार्थना बताता हूं ये प्रार्थना तू कर तो उसने कहा जैसा आप कहें आप प्रार्थना समझा ले प्रार्थना समझा दी उसको समझा कि मूसा बड़े प्रसन्नता से आगे बढ़े कि एक भ्रष्ट आदमी को रास्ते पर लगाया थोड़ी दूर गए थे कि आकाश से आवाज आई कि मूसा मैंने तुझे पृथ्वी पर भेजा है इसलिए कि जो भटक गए हों उन्हें रास्ते पे ला इसलिए नहीं कि जो रास्ते पे हों उनको भटका मूसा ने कहा क्या कहती मैंने किसको भटकाया ईश्वर ने कहा भी तो उस बेचारे गड़रिए को भटका के आया उसकी स्वस्फूर्त प्रार्थना का मजा ही और था मैं प्रतीक्षा करता था कि कब उसकी प्रार्थना होगी उसकी प्रार्थना बड़ी आनंददायी होती बड़ी चीजें गजब की कहता आज ही क्या गजब की बातें कह रहा था और कितने प्रेम से कह रहा था उसका प्रेम तो देख कि तेरे जुए बीन दूंगा एक एक जुआ निकाल दूंगा एक नहीं बचने दूंगा तो एक मौका तो दे मुझे अरे मेरी मान तूने सब खराब कर दिया अब वो एक झूठी प्रार्थना थोथी प्रार्थना जिसमें उसके प्राण नहीं होंगे भाव नहीं होगा रोज रोज दोहराता रहेगा तोते की तरह रटता रहेगा तू वापस जा और उसे क्षमा मांग मूसा वापस गए उसके पैरों पर गिरे उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया मैंने तुझे जो प्रार्थना बताई वह गलत थी तेरी ही प्रार्थना ठीक है तू अपनी प्रार्थना जारी रख मेरी प्रार्थना कभी नहीं पहुंची परमात्मा तक तेरी पहुंचती और मैंने जितनों को सिखाई किसी की नहीं पहुंचती और तेरी पहुंचती है स्वस्फूर्त होनी चाहिए आत्म विभोर हो जाना ही पूजा है मस्ती में नाचो गाओ गुनगुनाओ यह क्या पागलपन की बातें कि पूजा किए बिना अन्न खाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है पूजा बिना जियो मत ये कोई अन्न खाने की बात नहीं है अन्न कितनी दफा खाओ